Yes, you yes, yes, इति समाप्य करने वाला और पाप से प्रेम करने वाला नहीं है वह बड़ी अगाध सर्वत्र व्यापक है जो कवि सर्वज्ञ मनीषी सब जीवों की मनोवृत्तियों को जानने वाला बलिभू दुष्ट पापियों का तिरस्कार करने वाला स्वयं अनादि स्वरूप वाला जिसकी संयोग से उत्पत्ति और वियोग से विनाश नहीं होता जिसके माता पिता कोई नहीं और जिसका गर्भवास जल वृद्धि और क्षय नहीं होते हैं वह परमात्मा नियंता और अनादि स्वरूप वाला ब्रह्म सृष्टि के आदि में स्वयं प्रोक्त वेदों के द्वारा शब्द अर्थ और संबंध को बतलाने वाली विद्या का उपदेश न करे तो कोई भी विद्वान न बन सके और न धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप फल को प्राप्त कर सके इसलिए इस ब्रह्म की उपासना सदा करो इसी वेद स्वास्थ्य है परिचित सज्जनों अभी आपने वेद मंत्र की व्याख्या सुनी इस भारत देश में अब भी कुछ लोग वेद को सर्वोपरि मानते हैं वेद को मानने वालों में जब कभी कभी विचार भेद होता है मत भेद होता है अपने अपने ढंग से लोग सोचते हैं किसी विषय का निर्णय करना चाहते हैं तो अंतिम निर्णय वेद के आधार पर करते हैं अब लोगों की मान्यता के अनुसार ईश्वर भिन्न भिन्न प्रकार से कहा जाता है एक व्यक्ति कहता है ईश्वर अवतार लेता है दूसरा व्यक्ति कहता है अवतार नहीं लेता एक व्यक्ति कहता है ईश्वर एक देश में रहता है दूसरा व्यक्ति कहता है ईश्वर सर्वत्र है जब इस प्रकार के विषयों पर संवाद होता है तो वेद के मानने वाले लोग वेद मंत्र के अर्थ को ही उपस्थित करते महर्षि ज्ञान सरस्वती जी महाराज के काल में जब ये विषय वाद विवाद के थे काशी जैसे नगरों में वो पंडितों की नगरी मानी जाती थी उस समय स्वामी राम सरस्वती जी महाराज ने कहा आप इन मूर्तियों को ईश्वर मान के पूजते हो इनको ईश्वर का अवतार रूप देखते हो वास्तव में ईश्वर अवतार नहीं लेना और ये मूर्ति पूजा वेद के विरुद्ध है भी ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती रहती वहां पर भी विद्वानों में यही आधार बनता था दोनों पक्षों के विद्वान कहते थे वेद क्या कहता है इसमें वो हमको दोनों को मान्य होगा तो स्वामी दान सरस्वती जी ने वेदों के अध्ययन के आधार पर यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी वेद से ये बात नहीं सिद्ध होती कि ईश्वर अवतार लेता है ये सिद्ध कर दिया और ये लोग दूसरे लोग क्या कहते हैं हम तो इन चार वेदों को ही चार वेद मानते हैं और ग्रंथ हैं ब्राह्मण ग्रंथ उपनिषद हैं बहुत से ग्रंथ हैं दूसरे लोग उनको भी वेद मानते हैं अपने समय में शंकराचार्य जी भी इनको उपनिषदों को वेद मानते से बोलते तो वेदों से अतिरिक्त ग्रंथों में मिलावट हुई है ऋषियों के नाम से ग्रंथ बनाए गए ऋषियों के नाम के ग्रंथों में प्रक्षेप मिलावट किया गया तो उस मिलावट के आधार पर वो लोग कहते ये भी वेद है और देखो इसमें ये लिखा ये उन लोगों ने कहा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक बहुत बड़ा आधार अपना अपना लिया और उस आधार को अपनाने से उनकी विजय होती चली उन्होंने कहा देखो चार वेदों को मैं प्रमाण मानता हूं इन चार को छोड़ के मैं ब्राह्मण ग्रंथों को प्रमाण मानता मैं मनुष्यवृत्ति को मानता मैं उपनिषदों को मानता इसी को भी नहीं मानता मैं मैं तो चार वेदों को ही प्रमाण मानता हूं और इन्हीं को वेद मानता हूं इसके अतिरिक्त इनके विरुद्ध जो बात होगी मैं उसको वेद नहीं मानता तो महसी दान की जीत होती चाहिए यदि वो ये मान लेते ये विवेद हैं तो हार जाए निश्चित रूप में हार जाए क्योंकि उनको वो चीजें दिखी जैसे कि मांस खाना ये कि आहुति देना पशु मार करके ये इनके ग्रंथों में लिखा हुआ अब भी लिखा हुआ है तो ईश्वर अवतार देता है दक्षिण का अवतार सूर्य का अवतार पता नहीं कितने अवतार इनके ग्रंथों में भरे पड़े हैं पुराणों में तो इस वेद मंत्र में जो आज व्याख्या सुन रहे थे आप इसमें ईश्वर का लक्षण है विशेष रूप से इसमें जो स पर ये राग वेद मंत्र है स सहकार होता है वह स तऊ परी कहते हैं सब और अगार गया हुआ स परी अगार शुक्रम अनंत बलवान सृष्टिकर्ता फिर आगे जब पद आते हैं अकायम अब काया शरीर तीन माने जाते हैं स्थूल शरीर ये जो दीख रहा है सूक्ष्म शरीर जो सत्रह अठारह तत्वों का माना जाता है जन्मांतर में साथ चलता रहता और कारण शरीर प्रकृति को बोलते हैं प्रकृति कारण है तो प्रकृति कारण रूप शरीर और ये सत्रह तत्वों का प्रकृति से बने हुए वो सूक्ष्म शरीर और ये हमारा सात धातुओं का स्थूल शरीर इसमें ये कहा अकायम तो ईश्वर का न स्थूल शरीर है न सूक्ष्म शरीर है न कारण शरीर है अकायम बिल्कुल साफ और शंकराचार्य जी ने जो उपनीत की व्याख्या में आया है उसने भी यही अर्थ किया है तीनों शरीर से रहित है ईश्वर सूर सूक्ष्म कारण इसलिए यहां पर एक बात सिद्ध है कि अकायम ईश्वर शरीर धारण बिल्कुल नहीं करता युक्ति से आप सोचने लगे तो तब भी आपको ऐसा ही प्रतीत होगा जहां वेदों में वर्णन आता है ईश्वर का वर्णन जहां आता है वहां पर यह वर्णन आता है ये जितना लंबा चौड़ा संसार है कितना लंबा है इसकी कल्पना नहीं कर सकते लोग अभी बॉम्बे में जो कार्यक्रम था तो हम उसके अंदर लोग नाम है क्या उसमें देखने गए भिन्न भिन्न काल में भिन्न भिन्न भाषाओं में उसकी व्याख्या चलती है एक घंटा का लगभग कार्यक्रम और उसमें कौन सा तारा कौन सा नक्षत्र कौन सा चंद्रमा कहां पर क्या और वो उसको दिखाने का प्रयास करते व्यक्ति सुनता सुनता ऐसे भूल भूलिए से मैं चला जाएगा जैसे मैं कहां के बैठ गया हूं रात जैसा हो जाता है वहां पर और वो दिखाते हैं ये अमुक वैज्ञानिक ने इतने दिनों में इतने वर्षों में इतने मुझे खोजा और ये इसके इतनी दूरी पर है ये बृहस्पति इतना बड़ा है पृथ्वी के सामने कितनी छोटी है और वो सारा एक एक दिखाते चले जाते हैं व्यक्ति जो है आश्चर्य में पड़ जाता है और फिर वैज्ञानिक लोग ये पता नहीं लगा पा रहे ये कहां तक है एक आकाश गंगा में और वो का लोकांतर और आकाश गंगा भी इन्होंने बहुत सी पता नहीं करोड़ों खोज डाली आकाश गंगाएं ये जो लंबी लंबी देखती और फिर ध्यान देना वेद की ओर वेद ये कहता है भगवान के चार पाद हैं कल्पना की है समझाने की भगवान के चार भाग हैं क्या और कहते तीन तो खाली पड़े ईश्वर ईश्वर है और एक में संसार बैठा हुआ कितना बड़ा है जी भगवान कितना बड़ा हुआ भगवान को समझाने के लिए चार भाग बनाए उन तो चार भागों में तीन खाली पड़े और एक में ये संसार है एक संसार कितना बड़ा है और ईश्वर कितना बड़ा है ये भी कल्पना की गई है समझाने के लिए भगवान के चार पांच चार विभाग हैं तीन खाली पड़े हैं जिसमें भगवान ही भगवान है और चौथा भाग में सारा संसार है उसमें भी भगवान है अब भले व्यक्ति वो शरीर में कैसे आएगा इसे पूछो मुझे दिमाग से और बात करो आप वो भगवान इतने छोटे शरीर में कैसे आएगा क्यों आएगा क्या मतलब है कोई सिर पर नहीं कुछ भी तो नहीं इसलिए ये विनाश का कारण बन गया भारत का गलत ईश्वर को समझना गलत भक्ति करना गलत ईश्वर की पूजा भारत के सारे के सारे विनाश का कारण बना हुआ अब यदि ईश्वर को इसी रूप में मानते जैसे वेदों का ईश्वर है तो ये भारत की दुर्दशा न होती जो आ रही तो इसलिए कहा क्षत्रियगा शुक्रम अकायम और असनावीरम कहता है और सुन लो शरीर तो है नहीं और इतनी बात और सुन लो ये नाड़ियों के बंधन में भी नहीं है कई चीजें ऐसी हैं शरीर तो नहीं दिखता पर नाड़ियों के बंधन में जरूर रहती है वो कौन सी है हाँ जी वायु कौन है वो शरीर में सारा व्यापार खून चलाने का वायु के माध्यम से हो रहा है वायु को पकड़ रखा है साइकिल में वायु को पकड़ रखा है नस नाड़ी के बंधन में है नहीं वायु वायु नाड़ियों से बंधा हुआ है और शरीर नहीं है वायु का वायु का तो कोई शरीर नहीं है फिर भी वो नाड़ी से कहते असना हम ये वायु की तरह नाड़ियों में बंधा हुआ नहीं है भगवान शुक्रम अकायम अव्रणम एक शब्द और है और कहते हैं कितने भयंकर हीरे लाल जिनमें छिद्र होना मुश्किल है इसमें छिद्र भी नहीं होता भगवान में ये विशेषण भी शुद्धम अपाप विद्धम कभी अविद्या इसमें नहीं आती पाप आचरण नहीं करता और कवि है सर्वज्ञ है मनीषी है परिभू दुष्टों को दंड देता है अधिकार में रखता है उनके ऊपर विराजमान रहता है स्वयं भू स्वयं सिद्ध है ये लोग जो व्याख्या करते ना सार वाले ये शब्द को लेते ध्यान देना क्या कहते हैं हमने तो ये कहा अकायम ईश्वर अकाय है कहते नहीं पैदा होता है कैसे पता चला ये देखो स्वयं भू स्वयं पैदा होता है एक और हमने तो कहा अकायम और ये कहने ने क्या कहा नहीं नहीं ये तो अकाय तो कह दिया और ये इसका क्या अर्थ करोगे स्वयं भू स्वयं पैदा होता है ये जन्म लेता है तो तो भाई पहले तो कहा कायम और फिर कहे स्वयं भू तो आपस में टकराव हो जाएगा तो कहा या का तथ्य तो अर्थान सिद्धार्थ वेदों के माध्यम से ठीक ठीक अपनी प्रजा के लिए वेदों का ज्ञान देता है ऐसा ईश्वर है इसलिए हम ऐसे ईश्वर को मान के उसकी उपासना करें और जो ऋषियों ने यह परंपरा यहां तक जाकर छोड़ी है महर्षि दान ने उनको सारे ऋषियों को समन्वित किया है एक ही बात बताई कि वेद और वेदों के अनुसार ऋषियों की बात भी मैं मानता हूं इसी रूप में हम इसकी रक्षा करें और आप याद रख लो आर्य समाज की गतिविधि में ये बातें आती रही स्वामी श्रद्धानंद जी स्वामी दर्शनानंद जी ने जीवन खपाए सब कुछ वेदों के विद्वान निकलते रहे निकलते रहे निकलते रहे निकलते रहे गुरु को कांगड़ी में फिर वो वातावरण बदलते बदलते बदलते तो विनाश होने लगा आज ये विनाश होते होते यहां तक पहुंच गया है गुरुकुल जितने थे उनको स्कूल बनाया जा रहा और लोगों का दिमाग इतना खराब है नाम के लिए अपने मैं गुरुकुल चला रहा हूं इतनी भेड़ बकरियों की तरह इकट्ठा कर लेता उसको फिर नकल करवा करवा के इनकी परीक्षा दिलाता है वहां गुरुकुल में गलत अध्यापकों का वेतन सरकार से देता है और ये विनाश आर्य समाज की ओर से होता चला जा रहा है इसकी रक्षा करनी हो तो ये कि ध्यान रखो इसको जीविका के साथ जोड़ के और दुनिया के साथ जोड़ के इसकी रक्षा नहीं हो सकती फिर से सुन दीजिए गुरुकुलों को नौकरियों के साथ जोड़ दिया आज आपने जीविका के साथ जोड़ दिया आपने तो ये विनाश और होगा कुछ गुरुकुल तो कम से कम वो रहनी चाहिए एक दो विश्वविद्यालय का रूप रहना चाहिए उसमें भी शुद्ध केवल ऋषि की पाठ्यक्रम पढ़ाई जाएगी सरकार से कोई संबंध नहीं होगा प्रजा से कोई संबंध नहीं है इसका कोई सहायता देने से हम तो विशुद्ध सत्यार प्रकाश आदि ग्रंथों जो पाठ्यक्रम लिखा है उसके पढ़ाने वाले से एक हो चाहे दो तब तो इसकी रक्षा हो सकती है अन्यथा इतनी भयंकर अवस्था आएगी आर्य समाज में इसको पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा आर्य समाज में अर्थ करने वाला नहीं मिलेगा आर्य समाज में गुरु को चलाने वाला भी नहीं मिलेगा ठीक रीति से यह अवस्था बिगड़ती चली जा रही है करना हो तो कर अब इसको यहीं पर विराम दिया